और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही सब जहन्नुमी हैं जो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे वो बहुत बुरा ठिकाना है